हमाद और अब्दुल वहाब सक़फ़ी दोनों ने अयूब से इसी सनत के साथ हदीस बयान की हमाद की हदीस इब्न उलैया की हदीस की तरह है और सकफी की हदीस में है अंसार के एक आदमी ने अपनी मौत के वक्त वसीयत की और छह गुलाम आजाद कर दिए सही मुस्लिम हदीस नंबर चार हजार तीन सौ छत्तीस